मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसके सोना की लंका है मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है मायापत भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है वे दे वही दसकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है सीता तब कह रहे थे अरे दुष्ट हो मौन मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन मैं हूँ वह जिसने एक समय शंकर का धन से उठाया था तू है वह जिसने उस धन को छूने में भी भय खाया था मैं उसके हूँ जिसने शिव धन को टूक तुरंत कर डाला है तू है वह जिसने चोरी कर पर नारी को हर डाला है सहन नहीं दस बदन से हुए जभी ये बहन खड्ग के चले उसी क्षण लाल कर लिए नयन बोला जो फिर असभ्यता के तो चंदा सी रह जाएगी इस तेज खड्ग की धारा में तिनके के समान बह जाएगी यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू तो जगमग होगी अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन यह भी अलग होगी कहा गरज कर सिया ने चुप हो पापी नीच सिंधु सदा ही सिंधु है कीच सर्वदा की तू बिसो हाथों से अपने यदि खड्ग तोल कर आएगा तो भी सतवंते से के सतवन को डिगा न पाएगा वंशज पुलस्त मुनिका होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है अपनी यह लाल लाल आके अबला के लिए दिखाता है हाय ब्राह्मण जात में पैदा हुआ कलंक चांडालों का आचरण करता है निस्तंक वेद धनी वाली वाणी से अब शब्द निकाले जाते हैं रहते थे जिनमें यज्ञ शुरुआ वे हाथ खड्ग चमकाते हैं शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घर में है हा ब्राह्मण कुल के छीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है अब भी कुछ बिगड़ा नहीं छोड़ बुद्धि का पाप प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप अपने को बना पुण्यशाले सीता को प्रभु के अर्पण कर अपनी अब तक के करने का पुण्यों के जल से तर्पण कर अन्यथा चिताए देती हूँ यह खड्ग तुझे ना तारेगी मक्खियाँ तलक तेरे शव को भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को साप ले बैठा सब अंत में उसे उसी का ताप इसके ज्ञाता है पवन तनय फिर स्वयं पवन भी साक्षी है पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना यह प्रकट घट चुकी है उस लीला के कुछ काल बाद इस भात पूर्ण संवरण हुआ कौशलाधीश के हाथों लंकाधीश्वर का मरण हुआ सती सदा सत पर रहे किया सत्य पद प्राप्त जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान आए जब वे सामने कर डाला अपमान बानर मंडल से भरा पुरा रण के जय का दरबार हुआ लाखों जीवों के सम्मुख व सतपरिचय का दरबार हुआ आसन बाही दिस नहीं दिया श्रीले को जब श्री रघुपति ने तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमति ने देवर कुछ परिचय देना है इसलिए अग्नि तैयार करो तुम उपकार के भ्राता हो भाभी पर कुछ उपकार करो आज्ञा के होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुए चुम्बन वाले लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई तब कहा सती ने पति को थल कल्पना और यदि आई हो इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो जागृति तो क्या सपने में भी द्रौपद में प्रीत न रखी हो तो माँ ज्वाले मेरे यह तन बस अभी राख की ढेरी हो यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता यह कह को दे पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठे उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी लपटों की लहरों के भीतर नावण्य रूप उत्पन्न हुआ फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ अर्पण कर प्रभु से कहा त्यागो घृणित विचार नहीं है सिया करो इसे स्वीकार भ्रमभेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ तब सीतापथ के अंग सीता स्वरूप यासीन हुआ पृथ्वी तल नवमंडल साराम सतवंती की जय बोल उठाम नीचे सागर ऊपर समीर सीता जी की जय बोल उठाम विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद कहना यह है जिसके सत पर से बजरंगी के साक्षी थे जिसके निर्मल आचरणों के ज्वाला जी ने दी साक्षी थी राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही बन भिजवाया था मांगलिक अवस्था में उसके यह न्यायीपन दिखलाया था हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम प्रगटे हैं इस अवध में वे रघुवंशी राम नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम यह कहकर वीणाए अपनी कर बंद उठे दोनों गायक इत्यलम सुना कर चलने को तैयार हुए दोनों गायक गेले भेंगे अखियाओं से जब देख रहे थे सभी इन्हें गदगद स्वर से तब प्रभु बोले रोको ठहराओ अभी इन्हें साधु बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन आते आते मेघ को रोक सका है कौन हम रहते हुए तपस्वी हैं हम रमते हुए तपस्वी हैं अत्याधिक नहीं भरमाते हैं जब तक जे चाहा रहे यहाँ अब जी उठता तो जाते हैं जब तक जे चाह रहे हाँ अब जी उजता तो जाते हैं ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं जो व्यवसाय गायक जन है धन पर जो कला बेचते हैं रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धार जो ही तक्षण चल दिए दोनों राजकुमार चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार सुने सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार रघुकुल की शक्ति तुम्हें तो हो हे सीता शक्ति प्रणाम तुम्हें रघुकुल की शक्ति तुम्हें तो हो हे सीता शक्ति प्रणाम तुम्हें अनुरक्ति वीर कि तुम्हें तो हो हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें इस पृथ्वी तल की हरियाली इस पृथ्वी तल की हरियाली उस नभ मंडल की उजियाली सबकी अभिव्यक्ति तुम्हें तो हो हे सीता शक्ति प्रणाम तुम्हें रघुकुल की शक्ति तुम्हें तो हो हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें जो निष्क्रिय और निरंजन है जो निष्क्रिय और निरंजन है निर्मल निर्गुण नारायण है उनकी आसक्ति तुम्हें तो हो हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें अच्छे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें सतका जिसने भंडार सदा सतका जिसमें भंडार सदा जय का जिसमें आघार सदा यह विस्तृत व्यक्ति तुम्हें तो हो हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें रघुकुल की शक्ति तुम्हें तो हो हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें सब भांति तुम्हें सुख करनी हो सब भांति तुम्हें सुख करनी हो मोहन की जीवन जननी हो मति गति रति भक्ति तुम्हें तो हो हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें रघुकुल की शक्ति तुम्हें तो हो हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें अनुरक्ति विरक्ति तुम्हें तो हो अनुरक्ति विरक्ति तुम्हें तो हो हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें रघुकुल की शक्ति तुम्हें तो हो सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें